हम क्षत्रिय धर्म निभाए पृथ्वी का भार मिटाएंगे प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे हो चुका बहुत जो होना था खो चुके बहुत जो खोना था अभ्यर्थन समय गवाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं चाहिए धन मान नहीं पत्तों पर रात बिताएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे जंगल की बूटियां खाकर हम वन की बूटियां चबाकर हम प्रकृति वीर बन जाएंगे का भार हटाएंगे वनवासी क्या कर सकता है सन्यासी क्या कर सकता है यह दुनिया को दिखलाएंगे पृथ्वी का भार उठाएंगे पालेंगे अंगन जब अपना पालेंगे औरव तब अपना परहित में जन्म लगाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे में अन्याय छा गया है सीमा पर पाप आ गया है फिर सत का सूर्य उगाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे जब निश्चर दल को दल डाले अन्याय समूल मसल डाले हम राम तभी कहलाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे तृण को कर पूर्ण दिखाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रणतपाल ने प्रण किया जब ही उठा कर हाथ इधर देवगण उधर मुनि बोले जय पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव पंचवटी के पास का रखा प्रिय प्रस्ताव तब मुनिवर से ले विधा दखन सिया के साथ पंचवटी में कुटीर से बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल बोल रहे थे वनों में पक्षी गण मृदुबोल बिल्वर साल कदल पीपल उनसे चहोर सटी थी वह कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूरण पुरी पटी थी वह बेलो या लता बिथानों में गण देवी से लिपटी थी वह सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी वह प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग थी और जटी थी वह उस वन की शाला में कवि की नायका नटी थी वह त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रगटी थी वह वारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम नित्य कुठी के द्वार पर होता था सत्संग कभी विवेचन का कभी शक्ति का है रंग एक दिवस थी लखन ने कहा समय शुभ जान मानो जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान प्रभु बोले यह प्रश्न है हित कर सभी प्रकार जड़ चेतन संसार में मानो ही है सार सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहली जान प्रथम नाद या प्रणव था फिर श्रेष्ठविदान उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षाद हुए क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए मानव शरीर ही भूतल पर शिष्टा का अंतर मन छाया इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं पर इसमें अपने जो गुण है वह उन जीवों से न्यारे हैं वे केवल भोग जानते हैं जानते शयन भी विचरण भी यह इंद्रिय जित संयम रत हो कर सकता बड़ा हितकरण भी वे हिंसा त्याग नहीं सकते इसमें है छुपी अहिंसा भी भोजन तक ही जीवन उनका इसमें उपवास साधना भी पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में है तो चुने विचार शक्ति देव क्या उसके भक्त वस्तुएं हैं संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं सबका आधार एक ही है कारणतम संबंधित है मानो यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे मिलजुल कर जग में कार्य करे तो कहीं न कोई खेद रहे पर ऐसा कहाँ हो रहा है नर नर में पशुवत लड़ता है वो कर्म दान निज स्वार्थ हेतु तो अपनों से आप झगड़ता है बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई ईर्षा कंचन कामनी मान और अधिकार नरका करते हैं पतन यही पंच विकार इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं राजा गण नियम बनाते हैं संतों के प्रवचन होते हैं फिर भी समाज विशृंखल हो संपत में जब बढ़ जाता है तो फल दल के संहार हेतु नरबन नारायण आता है यही होता आया अब तक यही हो रहा आज भी है पर नहीं जागता नर समाज जातक को यह चिंता है कब श्रेष्ठ बनेगी हर्षमयी पुरुषार्थमयी परमार्थमयी सत्साहमयी उत्कर्षमयी रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप नर अनुपम है से कल्पना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है यह सच है नर नारी ही से श्रेष्ठा की सृष्टि बन रही है पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में राम घर घर में रार ठन रही है अपने ही घर देख लो नारी का षडयंत्र नरपति तक को खा गया यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं अग्रजया या कहो कर पालन धर्म कर रहे हैं उस और भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं चारों में किसका पथ कैसा तत्त जन ही जान रहे है निज निज पथ पर पग धारे हम तो इतना ही मान रहे फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ खिलाएंगे जग को जीवन है यही बढ़ो आगे यह टेर सुनाएंगे जग को शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन ही कही है सच्चाई धर्म से भरो जग का सुख भंडार दुर्मत देश दुभाति का कर डालो संघार